और वही है जिसने पानी से इंसान को पैदा किया फिर उसी को नसबी और ससुराली रिश्ते अदा किए और तुम्हारा परवरदिगार बड़ी कुदरत वाला है